अन्य कोई प्रकार एक एक ही रास्ता है पिता का निषेध तो के साथ में आत्मा का अहम को तो ज्ञान हो रहा है अहम मनुष्य हो रहा है वह एक आरोपित अंश है एक अनारोपित अंश है तो आरोपित अंश को नीति नीति के द्वारा निषेध कर रहे हैं स्थूल शरीर नहीं सूक्ष्म शरीर नहीं कारण शरीर नहीं ऐसा निषेध करो और उसके बाद जो बचेगा आत्मा स्वतः सिद्ध होगा यह आत्मा है कहने के लिए विधि मुख से नहीं निषेध मुख से इतर का निषेध करते हैं हर व्यक्ति का परिचय दो तरह से कराया जाता है एक तो ये व्यक्ति अमुक नाम का ये व्यक्ति है ये विधि मुख्य होगा और इसी व्यक्ति को दूसरे प्रकारांतर से ये नहीं है ये वो नहीं है वो ये नहीं है वो नहीं है वो नहीं है करके जितने हैं एक को छोड़कर सबका निषेध कर देना पानी जो बचा हुआ वो व्यक्ति स्वतः सिद्ध हो जाए उसको कहना नहीं पड़ेगा अमुक व्यक्ति है इतर निषेध के द्वारा भी परिचय कराया जा सकता है तो आत्मा के बारे में जितने भी श्रुति बोलती हो मुख्य जो आत्मा है निर्विशेष आत्मा ये यही प्रकार है नेति नेति के द्वारा इधर व्यापृति के द्वारा ही परिचय कराना है तो मुख्य जो आत्मा है निर्विशेष आत्मा उसमें वाणी का विषय करना संभव नहीं विधि मुख से संभव नहीं विधि मुख से जहां वाक्य आएंगे वो जगत का सृष्टा ईश्वर रूप से प्रतिपादन होगा सविशेष आत्मा का प्रतिपादन होता है निर्विशेष का प्रतिपादन होगा तो यही तरीका है देती देती मेरा नाना चिंतन आदि स्मृतियां हैं एक कह रहे कहा अतः प्रकृति आत्मा नित्य से अपरोक्ष नित्य अपरोक्ष आत्मा है अहम अहम अहम हो रहा है स्फूरित हो रहा है किंतु केवल अहम नहीं हो रहा है बस इतने है अभी अहम मनुष्य हो रहा है अगर पशु शरीर में जाएगा तो अहम पशु ऐसा होगा वृक्षादि शरीर में अहम होगा तो अहम वृक्ष इत्यादि होगा जहां भी जाएगा वहां अहम जुड़ा हुआ होता है अहम का भी विचार नहीं है शरीर का भी विचार हो जाता है अभी मनुष्य में है अहम आगे पशु में बोलेगा अहम जहां पहुंचा वहीं अहम करता है अहम का भी विचार नहीं होता अनुगत है चौरासी लाख होने में सर्वत्र अहम चलता है किंतु व्यविचार है मनुष्य काल में पशुत्व नहीं पशुत्व काल में मनुष्यत्व नहीं है व्यविचार है इन्हीं की व्यावृत्ति करना ये कहा प्रकृति आत्मा नित्य से अप्रोक्ष नित्य अप्रोक्ष से नित्य अप्रोक्ष आत्मा है या आत्मा जिसके आत्मा के बारे में विचार चल रहा है अहम मनुष्य इत्यादि नाम आरोपित धर्म प्रति आरोपित रूपेण प्रतीत है आरोपित रूप से तो प्रतीत हो ही रहा ना आत्मा को अहम मनुष्य इस रूप से तो अपने ज्ञान है ही है केवल अहम का ज्ञान है आत्मरूप से ज्ञान है अहम मनुष्य इस रूप से ज्ञान है प्रतीति है तस्य तस्य आत्मा दोनों बड़ी बड़ी कहा तस्य आत्मनो एवं उपदेश प्रकार है उस आत्मा का यही उपदेश प्रकार होगा अन्य नहीं होगा क्या होगा उपदेश प्रकार नेति तो बातों ने करते इतर से इतर से निषेधे कृते जब आत्मा से अहम मनुष्य करके दो अंश प्रतीत हो रहा है अहम मनुष्य उसमें से मनुष्यत्व के इतर का निषेध करना नेति के द्वारा निषेधे कृते स्व प्रकाश से स्वयं प्रकृति स्वयं प्रकाश आत्मा की स्वयं प्रतीति होगी उसके लिए प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं होती स्वयं प्रकाश है स्वयं प्रतीति हो जाएगी उसका ज्ञान स्वतः हो जाएगा स्वयं ज्ञान स्वरूप है स्वप्रकाश से स्वयं प्रति संभव उसके प्रति स्वयं संभव होने से अयमेव उपदेश प्रकार हो नान्य एक देती देती यही एक उपाय है इसका आत्मा का ज्ञान कराने इतर व्यावृत्ति कराने से ही उपाय है और दूसरा कोई उपाय नहीं आत्मा के लिए विशेष आत्मा का परिचय के लिए यही उपाय है माने आत्मा में पहुंचना हो ये जो उपाधियां हैं इसको हटाइए न ठोल शरीर मैं नहीं हूं सूक्ष्म शरीर नहीं हूं कारण शरीर नहीं तीनों को हटाइए आप वहां पहुंच गया क्योंकि तो बोलने से नहीं विचार से वहां पहुंचना पड़ेगा इससे हटाना पड़ेगा ये कहा तस्माद इत्यादि भाषण में तस्माद यथा शास्त्रोपदेश आत्मा अवबोध विधेयक नान्य शास्त्र में जैसे उपदेश है जैसे उपदेश है आत्मा के ज्ञान के विषय में वही विधि है और कोई विधि नहीं अन्य प्रकार नहीं है शास्त्र में जैसा बताया गया आत्मा विषय शास्त्र में क्या बताया इतर विषय के द्वारा बताया हुआ है यदि यदि आदि के द्वारा तस्मात यथा शास्त्रोपदेश एवं जैसे शास्त्र में उपदेश है उसको अतिक्रमण न करके आत्मा अवबोध विधि है आत्मज्ञान का विधि यही है न अन्य अन्य नहीं नहीं अग्निर्दाह्यम त्रिणादि अग्नि के द्वारा जलने योग्य जो त्रिणादि योग्य के लिए घास फूस आदि जलते हैं अग्नि से वो अन्य के दाह्य नहीं बनेंगे जो जिसका विषय उसी का विषय होगा अग्नि से जलने वाले तृण अन्य से नहीं जलेंगे किसे जलेंगे अग्नि से ही जलेंगे जल से नहीं जलेंगे वो मिट्टी से नहीं जलेंगे वायु से नहीं जलेंगे अग्नि से ही जलेंगे तो उसका विषय है इसी प्रकार आत्मा भी माने शास्त्र का ही विषय है मनोकल्पित नहीं है जैसे मनगणन सोचे आत्मा के बारे में ये कहना चाहते हैं नहीं अग्नि ताई हम तृणादि जो अग्नि के द्वारा जलने योग्य तृणादि है वह अन्य न कहने दर्पण सकता अन्य किसी के द्वारा उसको जलना संभव नहीं जलाया जा नहीं सकता अग्नि से ही जलेगा इसी प्रकार आत्मा को ज्ञान प्राप्त करना कोई चाहता हो तो शास्त्र से ही होगा अन्य कोई प्रकार नहीं शास्त्र में जैसा बताया उसी तरीके से चलना पड़ेगा और शास्त्र में कैसे बताया इधर व्यावृत्ति के द्वारा बताया नीति नीति यह आत्मा है ऐसा नहीं यह आत्मा नहीं है जो विशेष है उसका निषेध करके जाओ निषेध करते करते निषेध के जो अवधि बचेगा आत्मा हो जाएगा स्वयं प्रकाश है उसको प्रका, प्रकाशित करने के प्रमाण की आवश्यकता नहीं उसके लिए ये कहा अतएव शास्त्रम आत्मस्वरूपम बोधयितम प्रवृत्तम सत इसलिए शास्त्र आत्मा के स्वरूप को ज्ञान कराने के लिए प्रवृत्त होता हुआ शास्त्र क्या करता है ज्ञान कराना था आत्मा का किंतु कराता क्या है अमनुष्यत्व प्रतिषेध अमनुष्यत्व प्रतिषेध है ना जैसे उस व्यक्ति को अमनुष्यत्व का प्रतिषेध कर दिया तो मनुष्यत्व का ज्ञान स्वतः होना चाहिए उसको इसी प्रकार दृष्टांत दिया था जो भ्रांत व्यक्ति के अमनुष्यत्व का ही प्रतिषेध किया ना वो दृष्टांत किया तो अमनुष्य नहीं है करके कह दिया था अमनुष्यत्व प्रतिषेध है इबर नेति नेति होता है अमुनि शब्द तो उपदेश मैंने इतर व्यापृति ही परिचय कराना चाह रहा था इसी प्रकार ही नेति नेति इति उत्तर शास्त्र शास्त्र आत्मा को ज्ञान कराने के लिए चला था किंतु न इति न इति करके चूप हो गया शास्त्र उपराम हो गया आ, आत्मा तक नहीं पहुंचा शास्त्र आत्मा से इतर को निवृत्ति करा करके चूप हो गया शास्त्र आत्मा तो स्वयं प्रकाशित है स्वयं प्रकाशित जाएगा शास्त्र उपराम हो गया तथा इसी प्रकार और भी कहा अनंतरम अबाह्यम वो उसके भीतर बोलना बाहर बोलना नहीं बनता मतलब सर्वत्र है वो अयम आत्मा ब्रह्म सर्वानुभू इति अनुशासनम कहा यही वेद का उपदेश है अनुशासन उपदेशम उपदेश ही है अयम आत्मा ब्रह्म सर्वानुभू एक टिप्पणी में देते हैं चार बातें बताना चाहते हैं अयम आत्मा ब्रह्म सर्वानुभू शब्द के द्वारा टिप्पणीकार बोलते हैं अयम आत्मा ब्रह्म सर्वाणु एक पदानाम अयम आत्मा ब्रह्म इत्यादि परोक्ष भिन्न अयम करके बोल दिया परोक्ष भिन्न एकदम शब्द सन्निकृष्ट का वाचक होता है अयम परोक्ष नहीं और ब्रह्म जो बोला है परिचिन्न भिन्न करने के लिए ब्रह्म व्यापक है या आत्मा यहां देखेंगे तो परिचन्न देखता है तो परिचिन्न नहीं इसके लिए ब्रह्म शब्द का प्रयोग कर दिया परिचिन्न व्यावृत्ति के लिए परोक्ष व्यावृत्ति के लिए इदम पर का व्यावृत्ति लगा अयम बोला और परिचन्न व्यावृत्ति के लिए ब्रह्म पद लगा दिया ठीक है और असर्वत्व व्यावृत्ति के लिए सर्व शब्द का प्रयोग कर दिया असर्व नहीं है आत्मा ऐसा बोला और अनुभव शब्द के द्वारा क्या कहा अनुभव माने ज्ञान जड़ भिन्न चेतन बोलने के लिए जड़ भिन्न बोल दिया आत्मा चेतन है ऐसा नहीं बोला जड़ भिन्न ये चार शब्द इधर व्यावृत्ति किया है अयम आत्मा है तो अयम शब्द से तो परोक्ष भिन्न दिखाया अयम माने यह नहीं परोक्ष नहीं है कहा ब्रह्मपद के द्वारा परिचिन्न भिन्न दिखा दिया परिचिन्न नहीं है यही अर्थ आएगा इतर व्यावृत्ति और सर्व शब्द के द्वारा क्या लेना असर्व भिन्नत्व सर्व की व्यावृत्ति असर्व की व्यावृत्ति और अनुभू शब्द के द्वारा जड़ व्यावृत्ति ये चारों शब्दों का ऐसा अर्थ है इस प्रकार प्रकरणाचार्य ये प्रकरण के अनुसार ही यह अर्थ आएगा यहाँ मान इतर व्यावृत्ति करना है यह नहीं कि यह आत्मा है ये ब्रह्म है ये सर्वरूप है ये अनुभव रूप मान ज्ञान रूप है ऐसा अर्थ नहीं है विधि रूप से नहीं करना इतर व्यावृत्ति के लिए प्रयोग करना एक अच्छा तत्वमसी इसका भी अर्थ वैसा ही है लगता है विधिमुख से तत्वमसी ऐसा लगता है अभी यह टीका पड़ेगा लग जाएगा ये भी इतर व्यावृत्ति से ही है तत्वमसी भी विधिमुख नहीं आत्मा में निर्विशेष आत्मा में विधि को होना संभव नहीं इधर व्यावृत्ति है टीका पढ़ने पर पता लग जाता है और यत्र तो अश्य सर्वम आत्मा युवा हो तत्के न कम पश्य ये भी इतर व्यावृत्ति रूप से करेगा अर्थ करेगा ठीक है इतव माध्यम माध्यपि इतने आदि अपनी वेद्यत्व निषेधती ऐसा अन्वय कर रहे इत्यादि श्रुति भी आत्मा में वेद्यत्व का निषेध करती है आत्मा ज्ञान का विषय नहीं बन सकता ये निषेध करती है और आत्मज्ञान जहां बोलेंगे इतर व्यावृत्ति करने में तात्पर्य होता है ये कहना चाहते हैं टीका से देखिए ननु शास्त्रम बिना भी अन्य तो विधि मुखेना भी आत्मा अवबोध अस्तु इतना महाराज शास्त्र के बिना भी अन्य प्रकार से भी तो विधि मुख से यह आत्मा है करके बोला जा सकता है शास्त्र के बहुत सारे प्रमाण है अनुमान प्रमाण है उपमान प्रमाण है प्रत्यक्ष प्रमाण है अनुपलब्धि है अर्थापत्ति है केवल शब्द में शब्द ही थोड़ी है बहुत सारे प्रमाण है वेदांति लोग से प्रमाण मानते हैं तो ननु शास्त्र बिना भी शास्त्र बड़े शब्द प्रमाण में आता है ये शास्त्र के बिना भी अन्य तो अन्य प्र, अन्य से अन्य प्रकार से विधि मुखे ना भी विधि मुख के द्वारा भी ये तो निषेध मुख से शास्त्र कर रहा है विधि मुख से भी हो जाए आत्मा का ज्ञान विधि मुखे ना भी आत्मा को बोलो अस्तु आत्मा का ज्ञान हो विधि मुख्य इत्यदाह कहते नहीं अन्य कोई वो नहीं है अग्नि के द्वारा जलने योग्य जो तो त्रिणाली होते हैं अन्य किसी से जल नहीं सकते इसलिए जो तो शास्त्र के द्वारा जिस आत्मा का ज्ञान होना है उस आत्मा का ज्ञान अन्य प्रकार से नहीं हो सकता कोई प्रमाण काम नहीं करेगा शास्त्र प्रमाण ही काम करेगा और शास्त्र तो इतर व्यावृत्ति के रूप से ही बताता और कोई गति नहीं है एक कहा नहीं अग्नि काह्यम त्रिणादि अन्य के जो तत्व में कहा दृष्टान दिया जैसे जिस प्रकार अग्नि से जल योग्य प्रणाली होते हैं अन्य किसी से जलते नहीं वो जल से नहीं जलेगा पृथ्वी से नहीं वायु से नहीं तेज से नहीं आकाश से नहीं किसी को ही नहीं जलना अग्नि से ही जलेगा ठीक इसी प्रकार जो शास्त्र से ही प्राप्त आत्मा है वो अन्य किसी से विषय नहीं हो सकता अन्य प्रमाण का विषय नहीं हो सकता ये कहा शास्त्र के समिति गंभीर आत्मा तो एकमात्र शास्त्र के द्वारा ही सम्यक ज्ञान का विषय हो जाता है शास्त्र से ही जाना जा सकता है शास्त्र के शास्त्र का समुदिगम्यवाद आत्मनो आत्मा तो शास्त्र का समुदिगम्य है एकमात्र शास्त्र ही उसके लिए प्रमाण है आत्मनो न हेतुअरेण बोध संभवती माने अन्य कारण से बोध होना संभव नहीं हेतु माने अन्य कारण अन्य प्रतिष्ठा के प्रमाण से ज्ञान होना संभव नहीं कोई निर्विशेष आत्मा है वेदांत प्रतिपाद्य आत्मा विपाक है सविशेष आत्मा तो अन्य हो जाएगा निर्विशेष शास्त्रियों की अवबोध शास्त्रीय जो ज्ञान होता है वह भी इसी प्रकार होगा प्रकार अयमेव नान्य शास्त्रीय ज्ञान जो होना है शास्त्र के द्वारा जो ज्ञान होना उसके भी प्रकार यही है क्या है ना अन्य कोई प्रकार नहीं क्या है इतर निषेध मात्रेणा उपरमात निश्चय है हाँ। शास्त्र का भी यही प्रकार है ये की है इतर के निषेध के द्वारा ही आप शास्त्र सुख हो जाता है यही है इतर व्यावृत्ति करके शास्त्र परिचय देता है ये सिद्ध हो जाता है शास्त्रीय भी अपबोध प्रकार शास्त्रीय जो ज्ञान का प्रकार है वह भी अयम एव यही है नान्य अन्य नहीं क्या यही है क्या इतर निषेध मात्र उपरमा निश्चय इतर का निषेध करके ही शास्त्र चुप हो जाता है यह आत्मा है नहीं बोलता यही प्रकार है इतर निषेध करना ही तात्पर्य होता आत्मा आत्मा के परिचय देने की आवश्यकता नहीं स्वयं प्रकाश है ऐसा है अतएव एक अतएव शास्त्र आत्मस्वरूपम बोधयुकम बोलता आत्मा के स्वरूप को ज्ञान कराने के लिए प्रवृत्त तैयार हुआ जो शास्त्र था वो शास्त्र भी प्रवृत्तम सत अमनुष्यत्व प्रतिहन जैसे मनुष्यत्व को पहचाय कराने के लिए चलने वाला व्यक्ति क्या काम करता है तो अमनुष्य नहीं है करके चुप हो गया ठीक इसी प्रकार शास्त्र भी नेति नेति तो आत्मज्ञान कराने के लिए प्रवृत्त हुआ शास्त्र नेति नेति करके चुप हो गया आत्मा तक पहुंच नहीं पाया शास्त्र क्यों वाणी का विषय है वो शास्त्र वाणी का विषय जा नहीं सकता हूं ये तो बात होने पर करते ठीक है यदि अनुशासन यदि पदेन अर्थात अनुशासनांतरम निषेधात अभी एवं ये जो कहा अनंतरम अबाह्यम अयवात्मा ब्रह्म सर्वानुभू इति अनुशासन यही उपदेश है करके जो श्रुति ने बोला तो इससे भी सिद्ध होता है कि अर्थ से सिद्ध होता अनुशासनांतर में अन्य उपदेश नहीं है इति अनुशासन जो बोलते यही उपदेश है कहने से क्या होगा अन्य उपदेश नहीं हो सकता यही प्रकार है इतर व्यावृत्ति करने से अतिरिक्त प्रकार आत्मक अध्ययन नहीं करा सकते एक कहा तथा अनंतरम अबाह्य इत्यादि कहा तत्व से इत्यत्रापि तत्पदार्थ समानाधिकरण न तुम पदार्थे कर्तृत्वादि विषय देने तस् ब्रह्मत्व बोध इत्या तत्व में लगता है विधि मुख से श्रुति बता रहे तुम वही हो ऐसा कर शास्त्र नहीं बोल सकता ऐसा उसमें तत्वशी आदि में भी का समानादि जब है तत्व प्रथमांत है दोनों तत्पद भी प्रथमांत है तुम पद भी प्रथमांत है समानाधिकरण है समान विभक्ति वाले को समानाधिकरण बोलते हैं व्याकरण में तत्पद का समानाधिकरण होना चाहिए तत्पदार्थ का तत्पद का जो अर्थ है हाँ, परमात्मा उसके साथ समानाधिकरण होने से सामान्यकरण होने से तम पदार्थ है जो तम पदार्थ में क्या करेगा ये तत्वसी कर्तृत्वाधिकरण से तत्पदार्थ जो निर्विशेष आत्मा में कर्तृत्वादि नहीं है उसके साथ समानाधिकरण तम पद में होने से क्या उसके अर्थ इसमें कर्तृत्वादि के निषेध करके चर्चा होता है तुम करता नहीं हो होता नहीं ऐसा बोलेगा ठीक है तत्वशी इत्यत्रादि तत्पदार्थ सामानाधिकरण तत्पद के अर्थ के साथ इसका समानाधिकरण है होने से तोम पदार्थ ये तोम पद का जो अर्थ होगा इसमें कर्तृत्वादि निषेध है नहीं कर्तृत्व कर्तृत्वादि का निषेध के द्वारा ही तस्य ब्रह्मत्व होता है इस त्वम पदार्थ के अर्थ को ब्रह्मत्व का ज्ञान कराया जाता है निषेध रूप से ही है यहाँ तुम तो कर्ता भोक्ता नहीं हो ये कहने में तात्पर्य है तुम तो ब्रह्म हो जाने में तात्पर्य है कर्तृत्व भोक्तृत्व यदि निकल गया तो स्वतः ब्रह्म है वो उसको तुम ब्रह्म हो कहना नहीं पड़ेगा कर्तृत्व भोक्तृत्व आरोपी से तो जैसे मैं मनुष्य हूं मैं मनुष्य तो हटा दिया तो आम रूप रहेगा वो जीवात्मा नहीं होता उसका परमात्मा हो जाता है तो इसी प्रकार कर्तृत्व आदि का निषेध के द्वारा ही वो तोमपद के अर्थ को तब ब्रह्मत्व का बोध कराया जाता है निषेध मुख से ही है यहां भी कहा तीन नंबर की टिप्पणी जाते हैं <clears throat> कर्तृत्व आदि निषेध निवृत्ति तत्पद समानाधिकरण मैंने समानाधिकरण तत्पद में तत्पद समानाधिकरण में आता है तोमपद में समान विभक्ति को समानाधिकरण बोलते हैं तो यहाँ में संबंध आ जाएगा तत्पद का संबंध है त्वम पर में तो सामानाधिक समानाधिकरण तत्पर समानाधिकरण हो जाएगा तत्पद अच्छा, तत्च त्वमर्थ है वो जो तत्पद है वह तुम तुम पद के अर्थ में तुम पद के अर्थ में कर्तृत्व आदि अभाव बोधन है ना तात्पर्य ग्राहक जब तत्पद का जो लक्ष्यार्थ है कर्तृत्व आदि धर्म वहां नहीं है उसी के समानाधिकरण में तुम पद है तो यहाँ भी कर्तृत्व आदि का निषेध कर दिया कर्तृत्व अभाव बोधक तात्पर्य ग्राहकम तो जो तत्पद होगा सामानाधिकरण जो होगा वो त्वम पद के अर्थ में कर्तृत्व आदि के अभाव बोधन में तात्पर्य ग्राहक होगा सामानाधिकरण ततश्च प्रसिद्ध क्या हुआ कोई कर्तृत्व आदि नास्ती इति वाक्य तत्वशी का अर्थ यही होगा तुम्हारे में कर्तृत्व आदि धर्म नहीं है ये कहने में तात्पर्य तुम परमात्मा हो ये कहने में तात्पर्य विधि मुक्त नहीं हो सकता इससे ही होगा कर्तृत्वादि अभावाच तदर्थ ब्रह्मत्व इति फलती कर्तृत्वादि का अभाव होने से तदर्थ ब्रह्म ही तुम हो यह अर्थ आ जाएगा अर्थ से आ जाएगा ये शब्द से तो कर्तृत्वादि का अभाव सिद्ध कर दिया जाएगा और जब कर्तृत्वादि का अभाव हुआ तो कर्तृत्वादि का अभाव होने पर तुम ब्रह्म ही हो अर्थ से सिद्ध आ जाएगा ये कहा अच्छा तत्वसी इत्यादि कहा और यत्र तो अश्य सर्वम आत्मा बाबो तत्केन कम पश्यत इत्यादि में इत्यादि वाक्यों में तत्केन कम पश्यत इति दर्शन क्रिया कर्म तो निषेधा दर्शन क्रिया के कर्म विषयत्व का निषेध किया है तो आंख है नहीं किस कौन किस कौन किसको कैसे देखेगा ऐसा सब आत्मरूप हो गए उससे आत्मा से अतिरिक्त कर्ता भी नहीं कारण भी नहीं विषय भी नहीं तो कौन किसको कैसे देखेगा इतना कहने से तो तद के न कम पश्चेत वह किसको कम देखेगा इसमें भी दर्शन क्रिया कर्म तो निषेध दर्शन क्रिया का विषयत्व का निषेध किया है दर्शन क्रिया का विषय नहीं आत्मा होगा ऐसा कहने से अभी अव्यक्तया एवं आत्मज्ञान ये भी यही सिद्ध करता है वाक्य भी विषयतया नहीं अविषयतया एवं आत्मा का ज्ञान होगा व्यक्ति नहीं बनता विधि मुख्य नहीं यत्र इत्यादि एवं आदि अपि इत्यादि कहा था एवं आदि अपि तो इसके अर्थ वैद्यत्व व्यक्तित्व निषेध किसे भाष्य के अंत में जो इरम इतम आदि अपनी है उसके आगे व्यक्तित्व निषेध इत्यादि श्रुतियां भी आत्मा में विषयत्व का निषेध करती है ज्ञान विषयत्व नहीं होता आत्मा ज्ञान का विषय दूसरे बन जाते हैं तो, तो इधर व्यावृत्ति रूप से पहचान होना है ये कहा अच्छा ठीक है आगे तस्मात आत्मा कर्तृत्व धर्मवत्त धर्मवत्तया प्रमाण ज्ञात होना अशक्यता इसलिए देखो कर्तृत्वादि धर्म रूप से अभी जाना जा रहा है ऊपर ऊपर से आरोपित काल में है मैं करता हूं भोगता हूं क्योंकि तो प्रमाण से सिद्ध नहीं हो सकता जब प्रमाण को लेकर के चलते हैं तो प्रमाण से कर्तृत्व आदि धर्म सिद्ध नहीं हो सकता ये तो व्यवहार में चल रहा है यह अलग है प्रमाण से शास्त्र प्रमाण को लेकर चलते हैं तो सिद्ध नहीं होता कहा तस्मात आत्मा न कर्तृत्वादि धर्मवत्त या प्रमाण ज्ञात आवश्यकत्वाद आत्मा में कर्तृत्वादि धर्म रूप से ये प्रमाण के द्वारा जानना संभव नहीं है आत्मा कर्ता भोक्ता है प्रमाण से सिद्ध नहीं हो सकता इसलिए अतत धर्म अतत धर्म भक्त प्रति प्रतिदेव हाँ। आत्मा में अतत धर्म दिखता आत्मा का धर्म नहीं दिखता अन्य का धर्म दिखाई पड़ता है कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि तद धर्म माने आत्मधर्म न तत्धर्म अनात्मधर्म निषेध है अतः धर्म की प्रति माने आत्मा का धर्म नहीं है ये सिद्ध होता है प्रमाण से विचार का प्रति तत् अच्छा तत् धर्मवत्व प्रतिपेद अज्ञान मूलक आत्मधर्म मानता है जो कर्तृत्व है क्योंकि अज्ञान मूलक जब तक अज्ञान होगा दूसरे का धर्म दूसरे में आरोप करता है मन का धर्म है आदि आत्मा में आरोप करता है तद धर्मवत्व प्रतीत है जो प्रतीति हो रही तद आत्मधर्म दिखता है कर्तृत्व आदि किंतु वह अज्ञान मूलक अज्ञान के कारण हो रहा है इसलिए भ्रमत्वाद वो जो धर्मभक्त आत्मा को दिख रहा है कर्तृत्वादि धर्मभक्त दिखता है वो भ्रम है अज्ञान मूलक है वो अन्य का धर्म आरोप किया भ्रमत्वाद संसारित्व प्रतीत से वस्तु तो ब्रह्मा संसारी रूप से कर्तृत्व आदि रूप से प्रतीत हो रहा है वो जो संसारी रूप से प्रतीत हुआ आत्मा वस्तु तो ब्रह्म मात्र वास्तव में ब्रह्म मात्र ही है तो आदि के कारण से संसारी मानता था कर्तृत्व आदि तद धर्म नहीं है वो आरोपित है वो हट ब्रह्म ही है तो वास्तव में वो वस्तुता वस्तुतः ब्रह्ममात्रत्वाद अनेदैव न्याय ना इसी न्याय के द्वारा यही युक्ति है अनेदैव ऐसा है ये नैव नहीं है अने नैव अनेदैव न्याय ना ईश्वर से अभी यही युक्ति लगा करके ईश्वर में भी वो जो ईश्वरत्व आया है उपाधि के कारण आया है वास्तव में वो भी ब्रह्म ही है ईश्वर में यही युक्ति के द्वारा जैसे जीव में लगाई युक्ति कर्तृत्वादि धर्म वहां सृष्टित्वादि धर्म ईश्वर में दिखता है या कर्तृत्वादि दिखता है और ईश्वर में सृष्टित्वादि जगत सृष्टा वो भी उपाधि के कारण ही वहां अनेक न्याय में ईश्वर से आती सर्वज्ञत्वादि का उपाधि का कल्पना से सर्वज्ञत्व आदि की कल्पना की जाती है उपाधि का है वो औपाधिक है वो हम्म। इति अभिप्रेत्य ऐसा स्वीकार कर कल्पना से भ्रमत्व वहां भी भ्रम ही है ईश्वर में भी जो सृष्टित्वादि सर्वज्ञत्वादि कल्पना कर उपाधि के कारण है स्वतः सर्वज्ञ तो ईश्वर भी नहीं सर्वज्ञ नहीं हो सकता ईश्वर तो माया के कारण सर्वज्ञ बना हुआ है शक्ति है सारी शक्ति उसमें नहीं तो नहीं हो सकता तो वह भी ब्रह्मा होने से वेदे ब्रह्मत्वा भेदे माना भावाद ईश्वर का और परमात्मा के भेद में प्रमाण नहीं मिलता और जीव जिसको कहा था उसके साथ भी परमात्मा के साथ में कोई भेद नहीं मिलता प्रमाण से सिद्ध नहीं होता जीवत तो ईश्वर तो प्रमाण से सिद्ध नहीं होता भेदे मानाभावात तस्यापि वस्तु ब्रह्मात्र ईश्वर से आप उस ईश्वर को भी वास्तव में तो ब्रह्मात्र ही होगी इसलिए न त्रयात्मान पूर्वादि में जो कहा था आत्मा तीन है जीवात्मा ईश्वरात्मा परमात्मा एक ही आत्मा कैसे बोला ये कहा था उसका उत्तर हो गया ठीक है न त्रयात्मा तीन आत्मा नहीं हो सकते जो तुम बोल रहे थे आत्मा तीन है करके जिसके विषय में लंबा शास्त्र अर्थ चुनाव किंतु आत्मा एक एवं अखंड एक रस है आत्मा एक ही है अखंड है एक रस है एक स्वभाव है ऐसा है ऐसा स्वीकार करके कहा पूर्वादि शंका करता है एवं भूत से कसम संसार जब आत्मा अखंड एक रस है निर्विशेष है फिर संसार की प्रतीति इस आत्मा को कैसे होती है भाई करता हूं भोगता हूं ऐसा कैसे प्रतीति हो रही है अखंड एक रस है निर्विशेष है तो सविशेष प्रतीति कैसी होती है इसकी यही है एवं बुद्ध से कथम संसार प्रतिदि इस प्रकार के आत्मा या फिर संसार की प्रतिधि कैसे होती है तो उत्तर देते हैं आत्मा संसार से अज्ञानतः औपाधिकत्व आत्मा में जो संसार है अज्ञान से है औपाधिक है जब तक अज्ञान है तब तक संसार है अज्ञान से औपाधिक आत्मा में संसारित इति उत्तराध्याय संगति उपयोगिता है आ इसको संसारी दिखाना है आगे आत्मा में संसारी दिखाना है इसका तीन जन्म होता है करके जाए आगे वैराग्य के लिए शायद वैराग्य हो जाए और किस स्थिति में इसका जन्म कहाँ कहाँ होता है ये जब विचार से देखेगा तो शायद ये शरीर न मिले आगे ऐसा प्रयत्न कर जाए ये वैराग्य के लिए तो उत्तर आगे का अध्याय के साथ संगति उपयोगी होने के कारण यावत इत्यादि भाषण का यावत अयम एवं यथोक्तम एवं आत्मा न व्यक्ति जब तक अयम मान जीव यह संसारी बना हुआ है अभी अयम सन्निकृष्ट को बताया जा रहा है जो जीवत्व में प्रतीत हो रहा है कर्ता भोक्ता में प्रतीत आत्मा अयम यावत एवं जब तक एवं ये प्रकार आत्मा को जानने की जो प्रकार है इतर व्यावृत्ति जब तक मनुष्यत्व की व्यावृत्ति नहीं कर पाएगा तब तक ये संसार में घूमता रहेगा तीन तीन जन्म की चर्चा करेंगे आप जन्म तीन प्रकार के जन्म होगा इसका ये दिखाएंगे यावत अयम अयम माने सन्निकृष्ट है ये जीवात्मा यह संसारी आत्मा एवं यथोक्तम इम आत्मा पूर्वोक्त जो आत्मा है निर्विशेष आत्मा उसको न व्यक्ति जब अपने स्वरूप को नहीं जानता है वो स्थिति में तावत तब तक अयम ये जो जीव यह जीव संसारी आत्मा बाह्य अनित्य दृष्टि लक्षण उपाधि आत्मत्व उपत्यय कहते हैं आत्मा से बाहर होते मन आदि सब ये सत्य आत्मा अंतर्यामी सबसे भीतर आत्मा होता है मन आदि बाहर है उसके बाहर है माने शरीर के भीतर है किंतु आत्मा से बाहर है आत्मा से बाहर मन है मन से बाहर इंद्रिय इंद्रिय से बाहर शरीर शरीर से बाहर विषय ऐसा होता है तो जब तक अपने को नहीं जानता अपना स्वरूप दृष्टि को नहीं जानता ये तब तक बाह्य अनित्य दृष्टि में बाह्य जो अनित्य है मन आदि वस्तु अनित्य दृष्टि लक्षण मान दृष्टि का अर्थ अंतकरण वृत्ति होता है वृत्ति और वृत्तिमान को अभेद करके कहा मन मन मन है इंद्रिय है शरीर है इसमें बाह्य जो अनित्य मन आदि है इनके उपाधि को आत्मत्व किया मन आदि मन को इंद्रियों को शरीर को इनको आत्म रूप से प्राप्त करके तादात्म्य करके बैठा हुआ है ज्ञान के कारण मन को तादात्म्य बनाया मन का धर्म अपने में आरोप करके सुखी दुखी करता भोगता अपना आरोप कर दिया दूसरे का धर्म है अपना धर्म नहीं इसका यही अर्थ जब तक अपना स्वरूप को नहीं जानता ये कहा यावर अयम एवं यथोक्तम एवं आत्मा न व्यक्ति जब तक पूर्वोक्त प्रकार के जो आत्मा है विशेष आत्मा जो देती देती के द्वारा इतर व्यावृत्ति करने के बाद में जो स्वरूप होता है वो आत्मा को नहीं समझता है शरीर आदि को अलग करके जो आत्मा होगा उसको जब तक नहीं समझता तब तक तावत तब तक अयम शरीर आदि को लेकर चलने वाला जो होगा वहां बाह्य अनित्य दृष्टि लक्षण बाह्य जो अनित्य आत्मा से बाहर है मन भी बाहर है सबसे भीतर आत्मा है तो बाह्य जो अनित्य दृष्टि अनित्य है मन आदि इंद्रिय है शरीर है इनमें लक्षण उपाधि में आत्मा में उपयोग इन उपाधियों को आत्मस्वरूप से प्राप्त करेंगे फिर उनका धर्म को अपने में आरोप करेगा तब तो संसारी कहलाएगा ये मन का धर्म आरोप करेगा कर्ता भोक्ता हो जाएगा और चक्षुरादि का धर्म हो गया दृष्टा श्रोता ऐसा बनने लग गया वास्तव में आत्मा थोड़ी देखने वाला चक्षुरादि का ये विषय देखने वाला इस प्रकार शरीर का धर्म आरोप करके जन्म मृत्यु वाला समझेगा पैदा हुआ हूं मरने वाला हूं शरीर को धर्म आरोप करके बोलता है तो तब तक बाह्य अनित दृष्टि लक्षण उपाधि उपेत्य आत्मत्व उपेत्य रूप से प्राप्त करके अविद्या उपाधिर उपाधि धर्मान तो मानने अज्ञान के कारण से उपाधि के धर्म को अपना धर्म मानने वाला मानने वाला हो जाता है उसका अज्ञान है अपना स्वरूप का पहचान नहीं है मन आदि के साथ में मन को मई मान लिया इंद्रिय को मान लिया शरीर को मान लिया उनके धर्म आरोप करता है उसका अविद्या उपाधि धर्मान आत्मनो मन्यमान हाँ, उपाधि के धर्म को अपना स्वरूप मानने वाला ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतेशु ऐसे मानने वाला व्यक्ति कहां से कहां तक घूमता है ब्रह्मा जी से लेकर के स्तंभ तीन के तक चक्कर काटता रहेगा कभी तीन का बनेगा कभी ब्रह्मा बनेगा बस घूमता रहेगा अपने कर्म के आधार पर ब्रह्मादि स्तंभ पर देव तीर्यम नर शो चौरासी लाख योनि मान देवता है क्यों योनि है देव योनि है मनुष्य आदि योनि है पुनः पुनः आवर्तमान बार बार चक्कर काटने वाला एक बार नहीं कई बार आया कई बार गया फिर आया फिर गया कहां कहां घुमा पुनः पुनः आवर्तमान हो अविद्या काम कर्म तमसात तो संतोष क्यों ये बार बार आता है अविद्या काम कर्म ये संसार का स्वरूप तीन ही होता है अज्ञान है अज्ञान के कारण से विषयों की इच्छा होगी तब तक लोक प्राप्ति की इच्छा होगी शरीर प्राप्ति की इच्छा होगी इच्छा होने पर तद अनुकूल कर्म करेगा कर्म कर्म पर शरीर फिर आगे शरीर मिला तो फिर कर्म करेगा अज्ञान है दूसरे लोग की प्राप्ति होगी जहां बैठा है वहां इसको चयन नहीं है अच्छा लगता नहीं है दूसरे में जाना चाहता है इच्छा होती मांग होती उसकी तद अनुकूल कर्म करेगा फिर उसकी प्राप्ति करेगा ही कहते अविद्या काम कर्मोसाद अज्ञान है अज्ञान के कारण से तत्त लोगों की तत्त शरीरों की इच्छा हो जाती है विषयों की इच्छा होती है और उसके बाद उस इच्छा की पूर्ति के लिए अनुकूल कर्म करेगा यही तो संसार का स्वरूप है अविद्या काम कर्म यही होता है इसलिए इसके द्वारा वो जो उपाधि धर्म को अपना स्वरूप मानने वाला देवते मनुष्य जीवन में बार बार घूमता रहता है जब तक अपना स्वरूप को नहीं पहचानता तब तक उपाधि धर्म को अपना स्वरूप मान करके स्थिति हो जाती है जब नेति नेति के द्वारा उपाधि धर्म को हटाएगा समझेगा उसके बाद अपने स्वरूप में बैठेगा उमरा बंद हो जाएगा इसके लिए आगे तीन जन्मों की चर्चा दिखाएंगे हमें भेद जन्म कितने कठिनाई है कहाँ कहां इसको बैठना पड़ता है किस स्थिति में गुजरना पड़ता है अगर वो दृश्य सामने आ जाए तो शायद वैराग्य हो जाए इसको इसके लिए वैराग्य के लिए तो वैराग्य के बिना इसमें अग्रसर होने साधना कर नहीं सकता जब तक देहादि में वैराग्य न हो तब तक अपने उन्नति के साधन नहीं कर सकता बुभुक्षा जब तक सता रही हो बुभुक्षा जगेगी नहीं बुभुक्षा और बुभुक्षा एक काल में दोनों हो नहीं सकते हैं बुभुक्षा है तो मुमुक्षा नहीं है मुमुक्षा है तो बुभुक्षा है तो मुमुक्षा जगाने के लिए मुमुक्षा को समाप्त करने के लिए वैराग्य प्रकरण कुछ दिखाया जाता है शायद इसको वैराग्य हो जाए इसके लिए कहना चाहते हैं ठीक है सर ठीक है कहते हैं प्रत्येक आत्मा में बाह्याम अंतकरण वृत्तिम ये बाह्य अनित्य दृष्टि लक्षण उपाधि आत्मत्य उपेत्य ऐसा कहा उसके अर्थ कर रहे हैं टीका प्रत्येक आत्मनो बाह्याम माने आत्मा से बाहर है बाह्य है कौन है अंतकरण वृत्ति में अंतकरण वृत्ति बाहर है आत्मा से सबसे भीतर तो आत्मा है उसके बाहर पड़ता है अंतकरण भी बाहर है क्यों शरीर से भीतर है अंतकरण किंतु तो आत्मा से बाहर है वृत्ति में वृत्ति वृत्ति मतो अभेदय अंतकरण या वृत्ति और माने अनित्य दृष्टि का अर्थ है वृत्ति कभी होना कभी नहीं होना किंतु वह वृत्ति और वृत्तिमान को अभेद करके यहां पर दृष्टि शब्द का अर्थ अंतकरण देना अंतकरण आदि में उपाधि है वो अंतकरण है बाह्यकरण है अथवा शरीर है ये उपाधि है उन इनमें आत्मत्व आत्मभाव को प्राप्त करके उनका धर्म अपने आरोप करता है तब संसार में घूमता है यही कहना चाहते हैं अंतकरण एक है आगे तो मंत्र है

तदस्य प्रथमं जन्म ॐ पुरुषे हवायम् आदि गर्भो भवति यदेतद्रेतः तदेतत्सर्वेभ्यो अङ्गेभ्यस्तेजः सम्भूतम् आत्मन्येवात्मानं विभर्ति तदेदास्ति स्त्रियां सिंचती तथैन जनयती तदस्य प्रथम जन्म ये वैराग्य के लिए है पुरुषे हवई अयम आदित्यो गर्भो भगवती यदे तद पुरुष के शरीर में ये जीवात्मा कैसे आ जाता है आगे शरीर प्राप्त करने के लिए पंचाग्नि विद्या आदि की चर्चा है माने लोकांतर में गया हुआ व्यक्ति किस तरह से आ जाता है तो इस पुरुष के शरीर में आने के पूर्व अवस्था में धान आदि के बीज में प्रविष्ट हुआ होगा किसी बीज अन्न में किसी अन्न के दाने में होगा वो जीव जिस सहारे से जाना है उसको कूट पीट करके बना करके जब खाया जाता है तो वो धान चावल आदि रोटी आदि के साथ में जिस कण में रहा होगा उसमें उसके माध्यम से पुरुष के पेट में चला जाता है पुरुष के पेट में जब पहुंचा हुआ जीव उस उसके सहारे से अनाज के सहारे से पहुंचा हुआ अन्न के दाने में किसी एक दाने में था वो पहुंचा हुआ है वहां पहुंचा हुआ होगा वह सप्त धातु के क्रम से परिणत होगा उसी तरह से वो जीव भी साथ साथ जाता है रस होगा रुद्र होगा मांस होगा मेद होगा अस्थि होगी मज्जा होगा उसके बाद पुरुष शरीर और स्त्री शरीर में शुक्र स्वरित भेद हो जाएगा सप्त धातु में परिणत होगा इस तरह से जीव को चलना पड़ेगा उसके साथ ही शरीर प्राप्त करने के लिए उसके बाद जब वह रेत रूप में बन गया वीर रूप में तैयार हो गया है उसके साथ एकाध एक माने आत्मभाव में पड़ा हुआ है पुरुष के शरीर में पड़ा हुआ है वहीं पर वो क्या होता है पुरुष है हवाई अयम आदि तो गर्भवती उसी काल में गर्भ माना जाएगा जैसे स्त्री के पेट में गर्भ होता है पुरुष के पेट में गर्भ है अभी वो रेत रूप से रह गया पुरुष में है पुरुषे हवाई पुरुष में अयम आदि तो गर्व होती ये जो जीव है ना पहले गर्भ रूप अयम जीवा जो संसारी जीव है यह पहले गर्भ रूप में होगा पुरुष के शरीर में आ, आ गया किसी तरह से घूम करके आ गया किसी पुरुष योनि में पहुंचा हुआ है उस शरीर में आया हुआ है हाँ ये गर्व है अभी पुरुष के शरीर में भीतर बैठा है ये रेता तो रेता कौन है गर्व होने वाला जो ये रेता है जो वीर है उस रूप में है अभी उसके साथ वो जीवात्मा बैठा हुआ ऐसा होगा तब भी अंगे में तेज संबोधन कहते वो जो रेत बना हुआ है वीर बना हुआ है संपूर्ण अंगों का तेज है तेज का पुंज है तेज निकला हुआ है पूरे अंगों का सहार है काया हुआ अन्न का परिणाम होकर के सप्त धातु के रूप में घर जाकर जो सार बना हुआ है अंतिम धातु है तदेत वह जो रेत है वीर वह सर्वेभ्य अंगेभ्य तेज तो संपूर्ण अंगों का तेज है संपूर्ण अंगों से निकला हुआ तेज होता है संपूर्ण आत्मनि एवं आत्मान विभक्ति अपने में ही अपने को धारण करता है आत्मा आत्मनि आत्मान विभक्ति और ये पुरुष से भिन्न नहीं है आत्मा माने पुरुष जो होगा वो पुरुष धारण करने वाला व्यक्ति जिसके भीतर रेत पड़ा हुआ है वो व्यक्ति स्वयं को ही धारण करता है वो आत्मान एवं और आत्मनि एवं कहा अपने में ही धारण करता है धारण करने वाला आत्मा आत्मा आत्मा नहीं आत्मान धारे विभक्ति अपने को पुष्ट करके रखता है उसको अपने शरीर में तब यदा स्त्रियाम सिंचती जब ऋतु काल में जब उस स्त्रेत को स्त्री में सिंचन करता है स्त्री में तद मन रेत यदा स्त्रियाम सिंचती जब स्त्री में सिंचन करता है ऋतु काल में अथा एना जनाएगी वो जो रेत था एक बार जन्म हो गया उसका पितृ शरीर से मातृ शरीर में जाना माने निकल गया पितृ शरीर से निकला एक बार जन्म हो गया अभी रेत रूप में गया अथा एनत इस रेत का एनत जनयत इस रेत को पैदा करता है वो अपने शरीर से निकालता है उसको बाहर करता है तद अश्य प्रथम धन्य इस जीवात्मा का पहला जन्म कहलाएगा उसके साथ पिता के शरीर में जो बीज है उसके साथ निकला हुआ है ये पहला जन्म है कितने घृणित अवस्था में रहा होगा चार जन्म से ये कहा तीन जन्म दिखाएंगे टीका में कहते हैं एवं अध्यारोप अपवादाभ्याम आत्मतत्व निरूप्य इस तरह से पूर्व अध्याय में पूर्व अध्याय का विषय हो गया माने अध्यारोप अपवाद के द्वारा अध्यारोप किया था स्व ईमान लोकान अस्तित्व से आरोप करना शुरू कर दिया था क्योंकि सृष्टि के पूर्व अवस्था में आत्मा वही अयम इधम एक अग्रे आशित इत्यादि वाक्य था आत्मा ही था कुछ नहीं था उसके बाद सा ईमान लोग ने सृजित आदि वाक्य आया अध्यारोप किया साधन नहीं था कुछ नहीं था बन गया तो ऐसी स्थिति आ गई विवर्तवाद है आरोप है अध्यारोप शुरू होते होते या अव्यखत यहां तक अध्यारोप हुई कि यह अन्यत बाबरी सद यहां और कौन है यही है जो कुछ है आत्मा जो नहीं सोचा उसने आरोप में यहां तक पहुंचा सारा भूतों की चर्चा हो गई बहुत कुछ हो गया सृष्टि लोक की सृष्टि लोकपाल की सृष्टि शरीर की सृष्टि अन्न की सृष्टि जाने क्या क्या बता रहे सारे आरोप हुआ उसके बाद सो एकम एक पुरुषम ब्रह्म तत्म अपश्यत इदम अदर्शम यह अपवाद है पूर्वाध्याय के त्रयोदश मंत्र अपवाद बताया था इस तरह से यही कहना था पूर्वाध्याय का पूर्वापर संबंध दिखा रहे हैं एवं अपवादाभ्याम पूर्व पूर्व अध्याय में अध्यारोप और अपवाद के द्वारा आत्मतत्व निरूपण आत्मतत्व का निरूपण कर दिया पूर्व अध्याय उक्त आत्मतत्व ज्ञान है वैराग्यम हेतु इस आत्मतत्व का ज्ञान में क्या कारण होगा वैराग्य इस शरीर से घृणा आ जाए तभी आत्मतत्व के प्रति कुछ लगेगा नहीं तो इसी में तेल फूल करते सारा जीवन बिताएगा जैसे सुविधा मिल जाए रहने का सुविधा खाने की सुविधा सारी सुविधा ढूंढते ढूंढते सुविधा का कोई अंत होने वाला नहीं है इसी में समाप्त कर देना इसको और का नहीं है जितना मिले और और और करता जाएगा कई सुविधा चाहिए केवल भोजन पानी नहीं सम्मान की भी सुविधा चाहिए हाँ, अपमान नहीं चाहिए सम्मान चाहिए बहुत कुछ चाहिए चाहिए चाहिए चाहिए अंत है इसी में पड़ेगा इसलिए एवं अध्यारोपवादाभ्याम आत्मतत्व तो निरूपया उक्त आत्मा तत्व ज्ञान ये जो निर्विशेष आत्मा के ज्ञान में वैराग्यम हेतु वैराग्य कारण है वैराग्य के बिना कोई काम नहीं कर सकता वैराग्य चाहिए देहादि में वैराग्य हो तभी आत्मा के प्रति कुछ लग सकता है वैराग्य कारण यही है आत्मतत्व के प्रति तभी अग्रसर होगा देहादि से थोड़ा नफरत होगा नफरत माने जहर नहीं खिलाएगा प्रारब्ध का दिन छोड़ देगा पुरुषार्थ नहीं करेगा भोग साधन के लिए आप पुरुषार्थ करेगा आत्मा प्राप्ति करते ये होगा वैराग्य क्योंकि तदर्थम कोई वैराग्य दिखाने के लिए वैराग्य के लिए जीवावस्था प्रबंधन ये जीव की अवस्था कैसी कैसी अवस्था में गुजरना पड़ता है इसको ये देखने से शायद वैराग्य हो जाए अभी तो बना बनाए शरीर मिला हुआ है इसको वैराग्य कहां से होगा हाँ जब कैसी कैसी स्थिति में गुजरना पड़ता है कैसे आया पिता के शरीर में पिता के शरीर में किस स्थिति में रहा कौन कौन धातु में परिणत होके गया और वहां से मातृ शरीर में जाके कितने दिन रहा कैसे रहा कैसे स्थान पर रहा फिर वहां से निकलने के बाद जीवन भर क्या स्थिति रही उसकी क्या परिस्थिति रही फिर आगे मरने के बाद फिर क्या स्थिति हो गई ये दिखाना चाहते हैं बैराग्य के शायद ये चीज वैराग्य हो जाए तदर्थम जीवावस्था प्रबंध जीवों की अवस्था जो संसारी बना हुआ आत्मा है अन्य को मैं मान करके मन शरीर आदि जो अन्य है उसको मैं मानने के कारण उनका धर्म आरोप करके अपने संसारी मान बैठा है इसके प्रबंध है अर्थात तस्य त्रय आवश्यकता एक उपक्षेप पहले कहा था त्रय तस्य आवश्यकता उसकी तीन रहने का स्थान है बताया था वही उसी का उसके द्वारा उपेक्षित होता है शरीर त्रय तीन शरीर बतलाना है उसका रहने का स्थान तीन है उसका कहा था वहां दो अर्थ किया था या तो जागृत सुसुप्ति या तीन शरीर ये तीन शरीर वाले चर्चा करते हैं प्रपंच तो पंचमाध्याय अवतार है उपनिषद में ये द्वितीय अध्याय है जिसके अवतरण दे रहे हैं किंतु आरण्य क्रम से पंचमाध्याय पंचमाध्याय अवतार पंचमाध्याय का अवतरण देते हुए भूमिका करोती भूमिका बनाते हैं स एवं इत्यादि भाषा में कहा स एवं संसरण इस तरह से संसरण करता हुआ संसार को प्राप्त है एक शरीर पाता है उसको छोड़ता है दूसरे पाता है छोड़ता है चल रहा है स एवं संसरण इस प्रकार संस्मरण करता हुआ उपात्त देहेन्द्रिय संघातम तेजे जो प्राप्त है देहेन्द्रिय संघात उसको परित्याग करता है और त्यक्ता अनुपात त्यक्ता अन्यम उपादते त्याग करके चुप नहीं होता तुरंत दूसरे पकड़ लेता है इसको त्यागेगा दूसरा पकड़ेगा फिर कुछ दिन के बाद उसको अच्छा नहीं लगता त्याग देगा फिर तीसरा पकड़ेगा क्या कमी है शरीरों में कौन सा रहेगा ऐसी ये स्थिति बन जाती है कहा त्यक्वा तो अन्यम उपादते इसको छोड़ेगा तो दूसरा इसको त्याग करके अन्य को ग्रहण कर लेता है यही जाता है अनाधिकाल से न जाने कितने बार कितने शरीर पगला कितने शरीर छोड़ा पता नहीं चल रहा है पुनः पुनर् एवं एवं नदी स्रोतों व जैसे नदी का स्रोत निरंतर चलता है धार धारा चल रही है नदी का तो स्रोत है धारा है निरंतर है अखंड चल रही है इसी प्रकार ये भी एक शरीर पाना दूसरे को ग्रहण करना वो छोड़ना तो तीसरा करना अनंत ये धारा चल रही इसकी परंपरा खाली कभी बैठता ही नहीं और शरीर में जाने में कितनी कठिनाई है ये स्थिति है नदी स्रोत और नदी के स्रोत के समान जन्म मरण प्रबंध अविच्छेद जन्म मरण के जो प्रबंध है प्रवाह है उसका विच्छेद होता ही नहीं जन्मो कुछ दिन बाद मरो फिर मरो तो कुछ दिन बाद पैदा हो जाओ कहीं ना कहीं कर्म के आधार पर किस में पैदा होना है होना है चौरासी लाख रुपये में से कहा पैदा होना है जन्म मरण के प्रबंध प्रवाह का अविच्छेद रूप से वर्तमान उसको ऐसे रखने वाला जो जीव है हमें ऐसा शरीर धारण करना छोड़ना जो पाया उसको छोड़ना फिर दूसरा ग्रहण करना ऐसा होता है स्थिति काभिर अवस्था भी वर्तते किन किन अवस्थाओं से गुजरता है कैसी तो कैसी कठिनाई इसके सामने आती है फिर भी चेतता नहीं है होश नहीं है फिर भी इसको पित्वामोहमयुम प्रमाद मदिराम उन्मत्त भूतम जगत ऐसा भरतरेव जी ने कहा है आदित्य से गतागत ही रह रह संक्षीयते जीवन आज सूर्योदय हो गया एक दिन हो गया आज दूसरे दिन सूर्योदय हो गया और सूर्यास्त हो गया सूर्योदय हो गया सूर्यास्त हो गया यही गिनते हम अपने आयु गई पता ही नहीं लगता आदित्य से गतागत ही रहा संक्षीय जीवन प्रतिदिन सूर्य का आना और जाना यही दिखाई पड़ता है इधर गया पता नहीं लगता सूर्य का एक दिन हो गया तो यहाँ एक दिन आधी चली गई इधर ध्यान नहीं है सूर्य उदय हो गया अस्त हो गया यही व्यापार कार्य भार गुरु भी काल और विज्ञा थे समय ऐसा कट जाता है इतने आवश्यक कार्य सामने आ जाते हैं ये तो अति आवश्यक है करना ही है बस ये करते करते दो और आवश्यकता आ गई यही चलता पूरे जीवन में यही चल रहा है व्यापार ही बहु कार्य व्यापार गुरु भी कालो विद्या समय कट गया इधर उधर ये करना वो करना वो करना कर्तव्य देख देते उसी में समय काट दिया इधर कुछ नहीं किया समय निकल गया पता नहीं लगता दृष्टवा जन्म जरा विपत्ति मरणम त्रासस्तमत्पत्य देख रहा है वृद्ध अवस्था में किस स्थिति में लोग गुजर रहे हैं कैसी कैसी विपत्तियां झेलनी पड़ रही है शरीर में मरण हो रही प्रतिदिन प्रतिक्षण मरण हो रहा है प्रतिक्षण जा रहे सामने ठठरी जा रहे हैं लाशें जा रहे हैं दृष्टवा जन्म जरा विपत्ति मरण देख रहा सब जरा अवस्था कितनी परेशान में पड़ा हुआ देख देख रहा है जन्म अवस्था में कितनी कठिनाई है अपना जन्म के होश नहीं जब तो दूसरे के जन्म के समय तो पता लगता है क्या स्थिति होती है उसकी क्या कठिनाई होती है वृद्धावस्था दूसरे को तो दिखाई पड़ता है ना किस स्थिति में गुजर रहा हो विपत्तियां किस किस विपत्ति में गुजरना पड़ता है मरण भी दिख रहा है रोज प्राणी मर रहे हैं त्रासस्त्रों पर भय पैदा नहीं होता फिर भी यदि भी वो स्थिति होगी त्रास नहीं होगा पीवा मोहमय प्रमाद मजिरा जगत ये बात गणेश जी का प्रमाद रूपी मदिरा पिया हुआ है मदिरा पान किया आलस्य रूपी अपना कर्तव्य करता ही नहीं अपना जो कर्तव्य था जिसके लिए मानव शरीर पाया था वो करता कृपा वो प्रमाद मदिरा आलस्य रूपी मदिरा है वो पिया है उन्मत्त भूतम सारे जगत उन्मत्त पागल हो रखा है एक हो ना अगर एक व्यक्ति ने भांग पिया हो तो उसको ठीक किया भी जाए और कुआ भी भांग पड़ चुका है तो किसको ठीक करेगा कौन ठीक कर सकता है सारे पागल हो गए उन्मत्त तो भूतम कहा है ये कहते हैं स एवं संसरण उपात देह इंद्र संघातम त्यजती वो इस प्रकार से संसार में घूमता हुआ जीव जो प्राप्त शरीर इंद्रिय आदि है उसको त्यागता है और त्यक्ता अन्य उपादत है त्याग करके अन्य को शरीर को ग्रहण कर लेता है अपने कर्म के आधार पर चौरासी लाख योनि में जैसा उसको प्राप्त करता है पुनः पुनः एवं नदी स्रोत होते बार बार इस प्रकार से एक शरीर को त्यागना दूसरे शरीर ग्रहण करना फिर उसको त्यागना तीसरा ग्रहण करना धारा चलती है इसकी कभी बैठता नहीं चुपता नदी स्रोतों पर जैसे नदी की धारा निरंतर चलती है इसी प्रकार जन्म मरण प्रबंध अविच्छेद देना इसके जन्म मरण का जो प्रवाह है चलता रहेगा जन्मो तो मरो मरो तो फिर जन्मो ये चलता रहेगा अविच्छेद रूप से वर्तमान इस तरह से रहने वाला जीव का काबीर अवस्था भी वर्तते किन किन अवस्थाओं से ये रहता है कैसी कैसी अवस्था इसके सामने आ जाती है इतम अर्थम ये अर्थ दिखाने यही विषय इसी प्रयोजन के लिए दर्शयंती दर्शयंती आह ऐसे अर्थ को दिखाती हुई श्रुति आह कहती है श्रुति वैराग्य हेतु तो। श्रुति का तात्पर्य है कि इसको शायद यहां से वैराग्य हो जाए अपने कल्याण के लिए कुछ करने लग जाए स्मृति श्रुति का अभिप्राय है क्योंकि ये सोचेगा कि नहीं सोचेगा पता नहीं जब भी होगा ये कहा वैराग्य के कारण आगे के प्रयोग बदलाना चाहता है ये कहा अच्छा, अच्छा समय हो गया है यह रखते मनसी ठीक है ॐ प्रतिष्ठिता मे प्रतिष्ठिता